और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया है फिर हमने रात की निशानी को तारीख बनाया और हमने दिन की निशानी को रोशन बनाया ताकि तुम अपने रब का फजल यानी रिज्क तलाश करो और ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको और हमने हर चीज को खूब तफसील के साथ बयान फरमा दिया है